स्मृति हो गई ऐसे दूसरे को जाना यदि अच्छे को जाना तो जान पाने की इच्छा हुई और बुरे को जाना तो छोड़ने की इच्छा हुई तो ये जाना थी क्षति करो अगर बुरा जानोगे कि ये चीज बुरी है जहर जानोगे कि ये जहर है सोच जहाँ है छोड़ने की इच्छा होती परहेज कर बड़ी ईर्षा होगी परहेज परहेज माने बड़ी ईर्षा बड़ी अगर जहाज को जानोगे तो जिहासा होगी बड़ी ईर्षा होगी छोड़ने की इच्छा होगी और अमृत को जानोगे तो इच्छा होगी आशा होगी इच्छा होगी जब दूसरे को जानोगे और वो अप्राप्त होगा तो उसको पाने की इच्छा होगी और यदि दूसरे को जानोगे और वो बुरा होगा और अपने साथ निपटता हुआ होगा तो उसको छोड़ने की इच्छा होगी जैसे आप जानो कि ये विष है इससे मर जाएंगे विशेषण सियाती और सोच से कर्म से विचार जिससे मर जाए अंत का अंत्येष की क्रिया करनी पड़े है? उसका नाम होता है और जब जान जाएंगे कि ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाली वस्तु है तो भले आदत से लाचार हो उसको खाए पिए लेकिन जब वो आवाज में होंगे तब उसको छोड़ने की इच्छा जरूर होगी न जया सा न सा न संजया तो जिसको आप समझेंगे ये दुखदायी है हाँ, आप जहर से सांप से परहेज करेंगे और आप शरबत को अमृत को हाँ, सुखदायी वस्तु को ग्रहण करना चाहोगे पर ये होगा कब जब वो अपने स्वरूप से अतिरिक्त हो तभी उसको पाने की इच्छा और छोड़ने की इच्छा होगी और पाने का छोड़ने का प्रयत्न होगा लेकिन कहीं जिस चीज को आप जानना चाहते हैं वो आपका स्वरूप ही हुआ तो हम ही हुए तो तो हमें हमको पाने के लिए क्या प्रयत्न करना पड़ेगा तो बोले हम खो गए एक था सज्जन कोई तो रोज नोट करता था हो जूता यहाँ रखा है कलम यहाँ रखी है टोपी यहाँ रखी है घड़ी यहाँ रखी है हम छोड़ने जा रहे हैं पलंग पर और एक दिन उठा वो महाराज जूता ठीक है खड़ी ठीक है टोपी ठीक है घड़ी मैं तो पलक पर हूँ ही नहीं है अब बेचारा घबराया मैं तो पलक पर हूँ हाँ, उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी क्या हुआ बोले मैं तो पलंग पर हूँ ही नहीं पलंग पर बुलाया था अपने को अरे बाबा तुम पलंग पर नहीं हो तो खड़े हो अपनी काफी तो देख रहे हो ना तुम तो हो ना तुम कहा मर गए अपने को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और अपने को कोई छोड़ सकते ही नहीं सत्यानुष्ठान है यदि कोई कहे कि अपना त्याग कर दो तो जो अहंकार छोड़ रखा है धनी बने का अहंकार छोड़ दो भोगी बने का अहंकार छोड़ दो कर्मी बने का अहंकार छोड़ दो है? और जात का अहंकार छोड़ दो मजहब का अहंकार छोड़ दो विद्या का बुद्धि का अहंकार छोड़ दो परिच्छिन्नता जो दृश्य के साथ तादाद में है उसको छोड़ दो लेकिन अपने को कैसे छोड़ोगे तो ये जो तत्व ज्ञान है ये कोई दूसरे के बारे में होता ना तो उसको जानकर कि बड़ा सुंदर है महाराज कहाँ रहता है तो गोलोक में कहाँ रहता है तो बैकुंठ में कहाँ रहता है कैलाश में कहाँ रहता है साकेत में आओ उसको पाने के लिए कोशिश करें बोले हाँ रहता तो है पर समाधि में ही अपने स्वरूप में स्थित होता है एक समाधि काल होता है समाधि काल में होती है समाधि काल नहीं है समाधि काल और बैकुंठादी देश में है ना अन्य रूप से जो प्राप्त होगा वो दृश्य होगा हमारे द्वारा प्रकाशित होगा जड़ होगा हाँ। तो इसलिए अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है उसके होने पर न कुछ पाना पड़ता है और न कुछ खोना पड़ता है पाया कहे सो बावरा अब खोया कहे सो पूर पाया खोया कुछ नहीं ज्यो का त्यों भरपूर अनुभव का अधिकार है अपना न कछ हुआ है कछू न कच हो अनहार अनुभव का दीदार है ये साक्षात्कार है अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार हाँ, तो अज्ञान से जो बना वो नहीं बना है ही नहीं हाँ। और ज्ञान से जो बना तो पहले ही था बना क्या तब निवृत्तंच प्राप्त है नित्य निवृत्तंच है जो नित्य प्राप्त है उसी की प्राप्ति होती है अब प्राप्ति का भ्रम हो गया है जो नित्य निवृत्त है उसके न निवृत्त होने का भ्रम है उसी की निवृत्ति ही होती है ज्ञातन क्यों जायते जो ज्ञान स्वरूप है उसी का ज्ञान होता है विमुक्त का विमुचित है जो मुक्त है उसी की मुक्ति होती है त्रेरपथ सुरेश्वराचार्य भगवान ने कहा त्रेरपथ शपथ है आप में तीन बार सौगंध खाके आपसे मैं ये कहता हूँ त्रेरवत शपथ है आप में हम आपके सामने तीन बार सौगंध खा के कहता हूँ की नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति सी होती है नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति सी होती है नित्य मुक्त की ही मुक्ति सी होती है त्रिर्वक शपथ आत्मा तो आप नित्य शुद्ध शुद्ध अब बात आपको और ज्ञान जो है आत्मज्ञान नहीं बोल सकते ज्ञान स्व का ज्ञान तो ये किसी न किसी रूप में सभी आत्मा है एक ब्रह्म का ज्ञान तो ब्रह्म माने पुरुषोत्तम ब्रह्म माने रमानाथ रमापति ब्रह्म माने वैकुंठनाथ ब्रह्म माने राम ब्रह्म माने कृष्ण सभी तो होता है तो न अन्य रूप से ब्रह्म का ज्ञान और न तो स्वयं रूप से आत्मा का ज्ञान ये अलग अलग यदि गए तो अकिंचित कर वेदांत ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान इन दोनों को अलग अलग नहीं मानता है बोला ब्रह्मात्मय के ज्ञान वहाँ शब्द है ब्रह्मात्मय ज्ञान इसकी एक गिनती है आवश्यकता आवश्यकता क्या है ये जो सृष्टि दिख रही है ना आपको नाम रूपात्मक नाम रूप क्रियात्मक जो प्रपंच दिख रहा है और ये स्त्री है ये पुरुष है ये पशु है ये है सबकी सकल सूरत अलग अलग है सबके नाम अलग अलग है और सबकी क्रिया भी अलग अलग है आदमी धरती पर चलता है मछली पानी में तैरती है चिड़िया आकाश में उड़ती है, है? तो सबकी क्रिया भी अलग अलग है नाम भी अलग अलग है रूप भी अलग अलग है तो ये प्रपंच जो है ये परमात्मा से अभिन्न है परमात्मा से भिन्न नहीं ये प्रपंच माने ये जो विस्तार पति विस्तारे धातु से प्रपंच शब्द बनता है तो ऐसे भी मान लो कि पांच इंद्रियों का विस्तार है हाँ, पांच कर्म इंद्रियों का विस्तार पांच ज्ञान इंद्रियों का विस्तार बैंगलो परिषद में तो अंतकरण से भी पांच भेद बताए एक उपनिषदों में के उसमें ब्रह्म के भी पांच उपस्थित है ब्रह्म के पांच रूप हैं अंतकरण के पांच रूप हैं इंद्रियों के पांच रूप हैं इंद्रियों के पांच रूप हैं विषयों के पांच रूप हैं तो बोले यही पंच पंच पंच का प्रपंच बनता है प्रपंच और नहीं तो पंचायत शब्द सिंह में जो पंचायत शब्द है ना तो उसका अर्थ बड़ा हो बड़ा हो तो ये जो प्रपंच भागता है आपको ये जो प्रपंच ये जो प्रपंच आपको मालूम पड़ता है इसको किसने बनाया कैसे बना बोले कर्म से बना वासना से बना अनादि है हाँ, स्वतंत्र है परतंत्र है और प्रकृति से बना परमाणु से बना विज्ञान से बना है ये जो हजार हजार मत हैं उन सबका निषेध करने के लिए ये प्रतिपादन किया जाता है कि ब्रह्म से ही प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति और भय होता है वहाँ प्रपंच है और उत्पन्न हुआ और स्थित है और प्रलीन होता है ये प्रतिपादन करने में तात्पर्य नहीं है ये ब्रह्मातिरिक्त नहीं है ये प्रतिपादन करने में तात्पर्य वातारमणम विकारो नाम देयम मृत्यु के देव तस्याम सदन अन्य आरम्भ शब्दाल प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टान करूंगा तो ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय का वर्णन है और उसमें सृष्टि की प्रक्रिया अलग अलग तीन से हुआ पांच से हुआ ऐसे ये सब स्थिति की प्रक्रिया प्रलय की प्रक्रिया पृथ्वी जल में जल अग्नि में अग्नि वायु ये लय की प्रक्रिया ये सब ब्रह्म की अद्वितीयता का प्रतिपादन करने के लिए है वस्तुतः प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है ये प्रतिपादन करने के लिए नहीं है सिद्धम तो निवर्तक ब्रह्मा ब्रह्मातिरिक्तता का निषेध करने के तो देखो ब्रह्म की उत्पत्ति स्थिति प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की संगति लगा देते हैं ब्रह्म में और स्थान की संगति लगा देते हैं आत्मा हम ही अंतकरण आदि के द्वारा हम ही अंतकरण आदि के द्वारा प्रपंच को देखते हैं प्रपंचा भाव को भी देखते हैं तो प्रपंच के भान और अभान में शुद्ध भान स्वरूप आत्मा है और प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में अधिष्ठान रूप से ब्रह्म है ब्रह्म रूप अधिष्ठान में ये सृष्टि स्थिति प्रलय होता है वेदांत का कहना है कि भागत रूप से आत्मा और सत अधिष्ठान रूप से ब्रह्म ये दोनों अलग अलग नहीं है एक ही है तो इनका जो भेदक भ्रम है उसको निवृत्त करने के लिए वेदांत है तो अज्ञान का क्या स्वरूप है अपने को न जानना ये अज्ञान का स्वरूप नहीं है वो अपने को ब्रह्म न जानना ये अज्ञान का स्वरूप है अज्ञान का स्वरूप क्या है अपने को जानना ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है अपने को ब्रह्म रूप से जानना ये ज्ञान का स्वरूप है हाँ, वो नहीं ये जो हाँ, मौसमी है ना मौसमी भगवान मौसमी आचार समय समय पर पैदा होते हैं ऐसे कितने हुए कितने गए ये अपूर्ण से ये ज्ञान महाराज ये ज्ञान का अपौरुषेय रूप है वो इसको किसी आचार्य ने नहीं बनाया इसको किसी ईश्वर ने नहीं बनाया इसको किसी जीव ने नहीं जीव का बनाया हुआ नहीं है आचार्य का बनाया हुआ नहीं है ईश्वर का भी बनाया हुआ नहीं है बोला अद्भुत है ये दुनिया को देख के नहीं बनाया गया है डॉक्टर लोगों का जो ज्ञान होता है ना वो रोगी और रोग और दवा को देख के बनता है अपौरुषेय का अर्थ ज्ञान आजन्य ज्ञान संसार का अनुभव कर करके ये रजिस्टर नहीं बना और मतलब ये कैसा है ये पुरुष अच्छा मान लो ईश्वर ने ज्ञान बनाया तो ज्ञान से बनाया कि ज्ञान से बनाया ज्ञान से बनाया तो ज्ञान तो पहले ही था ईश्वर बना तो ज्ञान से बना कि ज्ञान तो पहले ही होगा ज्ञान के बिना तो कुछ सिद्ध ही नहीं होता न ईश्वर न जीव न जगत ज्ञान के इस स्वरूप को स्वीकार करता है एक सब सही बात है न कुरान न कुरान न बाइबल न गंगावस्था ज्ञान के इस अपौरुषेय स्वरूप को यदि किसी ने प्रकट किया तो वेद ने प्रकट किया उपनिषद ने प्रकट किया तो जगत के मूल रूप में जो सत्य है सदैव सौ में एकदम अग्रे आती आत्मा एकदम अग्रे आती ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्कार आत्मय वेदम अमृतम पुरस्ता अहम ये वेदम अमृतम पुरस्ता ये तो आत्मा अहम ब्रह्म शब्द है तो निश्चय का स्वरूप क्या होगा मैं साक्षी दृष्टा हूँ ये निश्चय का स्वरूप नहीं है वो ये ज्ञान को नहीं जला देगा ये तो एक दृश्य को अलग छोड़ देगा और आपको दृष्टा करके अलग कर देगा ये द्वैत ज्ञान है मैं दृष्टा हूँ मैं साक्षी हूँ मैं कूटस्थ हूँ मैं चेतन हूँ ये द्वैत ज्ञान है अद्वैत ज्ञान नहीं है और जगत का कारण ब्रह्म है परमेश्वर है और वो कोई अन्य है ये भेदक ज्ञान है अभेदक ज्ञान अद्वैत ज्ञान नहीं है आपको मालूम होना चाहिए यदि हमसे अलग ईश्वर होगा आप इसको प्रभुभोक्ति मत समझना था हमसे अलग होके ईश्वर बेहोश हो जाएगा चेतनता तो हमारे साथ चेतन तो हम है हम ही ईश्वर को चेतन बना के रख सकते हैं हम हमसे अलग होके ईश्वर तो अचेतन हो जाएगा बेहोश कोई शोध बुद्ध नहीं प्रपंचवाद और ईश्वर से अलग होके हम कट जाएंगे फिर जाएंगे परिच्छिन्न हो जाएंगे दुखी हो जाएंगे भयभीत हो जाएंगे शोकग्रस्त हो जाएंगे ईश्वर से अलग होके हमारी दशा क्या होगी तो तब ये निश्चय होना चाहिए कि जगत का मूल तत्व जो सदवस्तु है और प्रकाशक स्व प्रकाश सर्वाभाषक जो आत्म तत्व है ये दोनों एक हैं और ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच के अत्यंताभाव का अधिष्ठान है जिसमें दृश्य प्रपंच भागता हुआ भी ये नहीं कि मालूम नहीं पड़ेगा भागता हुआ भी कुछ नहीं है दीप सुखी भव धर्मशास्त्र सहजसुतथा ब्रह्मविद्याम् सर्वात्मवान् शान्ति आश्चर्यं चारुचर्या जननमो 的功夫。 परंतु आत्म जी से प्रकाशित कर रहा है ईमानदारी से काम नहीं करता बेईमानी से करता ना समझिए वो अपने को मानता है समझदार पर ये भी ना समझे किसी भगवान के भक्त को पूछो भाई ये आदमी भगवान की भक्ति नहीं करता है संसार में अत्यंत आसक्त हो रहा है इसका उत्तर क्या है भगवान भगवान का भजन करना चाहिए वो तो संसार का है अच्छा भाई अपने को जम नियम में क्यों नहीं रखता प्रातः काल उठे स्नान करे पांच मिनट शाम को पैर चढ़ाए अपने जीवन को नियमित क्यों नहीं रखता कंट्रोल में क्यों नहीं रखता नापंदी है इसमें कोई मतभेद नहीं है धर्म से विमुक्त होने का कारण भी नासमझी है उपासना से विमुक्त होने का कारण भी नासमझी है शांति शांति के साथ न बैठने से भी नासमझी जाहिर होती है ऐसे दुख क्या इस बात का तुमने अपना माना क्यों था किस समझदारी से तुमने उस धन को अपना माना था ना समझी से अपना माना था जब मिट्टी पृथ्वी ईश्वर की है तो इसमें हीरा मोती सोना चाहिए जो होता है तो सब ईश्वर का है वो अपनी इस दुकान में रखते तो उस दुकान में रखते आप अच्छा जन मरण से दुख होता है जन हरण से दुख होता है जन मरण से दुख होता है क्यों भाई तुमने इस जन को अपना क्यों माना पविता पुनश्चादन तुम्हें मालूम नहीं है वो कहाँ से आया था और ये भी मालूम नहीं है कि कहाँ गया जैसे प्याऊ पर आदमी मिलता है वो छोड़ जाता है अब उसके लिए रोने का तो कोई नहीं है तो असल में अपना मानना दुख है वो अपना मानने से दुख हुआ तो अपना क्यों माना तो संगीत से माना इस देश को इसका इसका मारा एकदम स्वाभाविक है आज तक दुनिया में जो जन्मा है सो मरा है जो खरा सो खरा जो बरा सो उताना जो फलता है वो भर जाता है जो जलता है वो खुल जाता है आज तक दुनिया में ऐसा बहुत हुआ जो पैदा हुआ हो और बरा न हो तब जो तुम अपने शरीर को अजर अमर अविनाशी मानते हो क्यों मानते हो कल्याण से मानते हो हम श्लोक की व्याख्या ही आपको सुना रहे प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम कोई आदमी को छोड़ देना बंद कर रहे तो धन मरण से दुख होता है जन मरण से दुख होता है हवन दहन से दुख होता है अभी ये जगह आग लगी चल गया मैंने बात की क्या हुआ मैं बोले महाराज बीमा कराया हुआ है हिसाब किताब से जितना नुकसान हुआ है वो उससे ज्यादा ही आएगा फसल मतलब में किसी चीज का जलना तो नहीं है उसको अपना मानना बेकार और अपना जो मानते हैं वो नाजुक एक बार हम लोग हरिद्वार के कुंभ मेले में थे हो मैं उन दिनों गीता प्रेस के गीता प्रेस में तो मैं कभी नहीं जाता कल्याण के संपादन विभाग में मैं गीता प्रेस का कर्मचारी नहीं था तो कुंभ के मेले में आग लग गई हरिद्वार में और गीता प्रेस की दुकान जल गई उसके साधन कर रहे तो जो उनके बीमा दलाल थे यही थे और उन्होंने कहा जो जल गया तो चौदह हजार रूपये की पुस्तकें जल गई ऐसा वहां से साथ किसी ने बना दे दिए दे दिया जब शेष जयदयाल जी को मालूम हुआ बड़े प्रबंध थे मानो उन्होंने कहा कि इतनी किताबें चौदह हजार की तो गई थी प्रेस से और तुम लोगों ने चौदह हजार हिसाब लिख के ले क्या किसी कुछ नहीं थी जो फिर गई क्या उनका रुपया भी जल गया साथ लगाया गया और दस चीज थी कितनी पुस्तकें जीत जली थी कितनी बिक गई थी कितना रुपया आया तो वापस करवा दिया उन्होंने एक ईमानदारी की बात जितना रुपया बिकी हुई किताबों के बदले में लिया गया था वो सब उन्होंने वापस करवा दिया तो ये दुख कहाँ है दुख ना शक्ति देखो उपनिषद का कहना है कि यदि तुम्हें ठीक ठीक विज्ञान है तो वो शोक तुमको नहीं जस्मिन सर्वाण भूतानी आत्मयी वाभूत विजानता एक विज्ञानवान पुरुष है उसको जब ये सर्वभूत आत्मरूप हो गया तो तंत्र को मोहन का शोक एकत्व अनुपश्यता ये जानता एकत्व अनुपश्यता को मोहन का शोक जो जानकार आती है जिसके जीवन में समझदारी आ गई ये मत समझना कि वो ज्ञान जाने कैसा होता होगा किम्बू के बाद इसी जिंदगी में और इसी बुद्धि में जो समझदारी होती है इसी बुद्धि में तो होती है भ्रांति और इसी बुद्धि में से मिटती है भ्रांति ये मनुष्य के जीवन के दोनों अंग हैं हो भूल होना और भूल का मिटना ये दोनों इसी बुद्धि में रहते हैं इसी से जीवन मुक्ति की सिद्धि होती है बोला जब भूल मिट जाएगी तत्व ज्ञान होगा भूल मिट जाएगी तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे जीवन मुक्त हो जाएंगे माने तब इसी जीवन में जीते रहते ही पैसा आने जाने से आदमी आने जाने से शरीर आने जाने से है दुनिया का दृश्य बदलने से राज्य बदलने से दुनिया में उथल पुथल महाक्रांति होने से बिल्कुल अडिट तो ये नासमझी दूर करना ये धर्म का भी काम है उपासना का भी काम है योगाभ्यास का भी काम है और तत्व ज्ञान का भी काम है बना तो तत्व ज्ञान मूला ज्ञान को दूर करता है और और सब ज्ञान जो है वो दूला ज्ञान को दूर करते हैं सब नासमझियों की जो जड़ है वो है अपने को परम तत्व के रूप में न जानना वहां से भ्रांतियां प्रारंभ होती ये आंख बंद करके जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमारे वेदांत को अभीष्ट नहीं है बोला खुली आंख परमारंभ दोनों आंख खुली है जक्षत स्त्री क्रीड स्त्रीभिर्वा ज्ञानैर्वा नोप नोपजनम स्मरण निरम शरीरम मैं शरीर हूँ ये भूल नहीं होनी चाहिए जक्षत लक्षण वैसे इसका व्याकरण से जक्षत रूप लगता है पर उपनिषद में जक्षण जक्षण प्रयोग खा रहा है खेल रहा है प्यार कर रहा है ये नहीं कि तत्व ज्ञान हुआ तो आंख बंद हो गई और समाधि लग गई और मर गए तत्व ज्ञानम महाव्याधिम मनंते जे महाधिय तत्व ज्ञानम जदा व्याधिम मनयंते जे महाधिया तेषा प्रज्ञाति विशदा किम तेषा दुस्तकम बद जो लोग तत्व ज्ञान को रोग मानते हैं कि जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो आंख देखेगी नहीं पांव चलेंगे नहीं हाथ करेंगे नहीं जीप बोलेगी मन सोचेगा नहीं तो क्या तत्व ज्ञान को लगवा लगना आदेश सारना मानते हैं तो तत्व ज्ञान वो चीज है जिससे अर्जुन युद्ध भूमि में लड़ते हैं तत्व ज्ञान वो चीज है जिससे रामचंद्र भगवान विवाह करते हैं तत्व ज्ञान वो चीज है जिससे जनक राज्य करते हैं तत्व ज्ञान वो चीज है जिससे अश्वपति का साम्राज्य चलता है तत्व ज्ञान माने ये ब्रह्म जो तत्व ज्ञान के विरोधी लोग हैं ना उन्होंने लोगों में पैदा किया है जो वेदांत के दुश्मन हैं उन लोगों ने अरे जिनको ज्ञान नहीं हो तो क्यों नहीं है ये तो अभी बोलते हैं चलते हैं सोचते हैं और इनको तो इनको ज्ञान ही मत मानना इनको गुरु मत मानना ये तो जिज्ञासु को गुरु नहीं मिले जिज्ञासु को गुरु नहीं मिले इसके लिए वेदांत के शत्रुओं ने ये बात फैलाई वेदांत के विरोधी देशनित्यो महिमा ब्राह्मण से न कर्मणा वर्धते कन्या कर्म से न रात है न विकास है न दर्द से अवतर है न कर्म से श्रेष्ठ होता है न कर्म से होता है तो ये क्या है तत्व ज्ञानी की तत्व ज्ञान की महिमा है इस विद्यो महिमा ब्राह्मण से न कर्मणा वर्धते नो कल्याण हाँ भाई तो मूल बात क्या है कि ना की होनी चाहिए प्रज्ञापराध है वैशा दुख हमें जो हमारे जीवन में दुख है वो हमारी समझ का कसूर तो है एको विशुद्ध बोधोम निश्चय वर्णना अच्छा ये ज्ञान कैसे मिलेगा तो जिसको ये ज्ञान है उसका जैसे दिए की लौ से दिए की लौ प्रज्वलित होती है एक दिए की लौ आपके पास हो और पचास दिया जलाना हो लव से लव लव से लव लव से लव मिला लो ऐसे जिसके हृदय में ये ज्ञान प्रकट हो गया है उसके सत्संग से मिले यजंतु जा रही थी प्रबदंतु आ रही थी चाहे यज्ञ करो चाहे वाद विवाद करो पठंतु शास्त्राणी रटंतु चागमान चाहे बहुत से शास्त्र पढ़ लो चाहे बहुत से वेद पुराण कंठस्थ कर लो लेकिन बिना ये समझदारी आए कि अपना स्वरूप क्या है तुम्हारा ये दुख इसके लिए चाहिए समझदारी समझ प्रज्ञा स्वामी राम तीर्थ ने एक जगह ऐसे कहा एक महात्मा कहीं यात्रा कर रहे थे पहाड़ में तो देखा एक पहाड़ के दरवाजे गुफा है पहाड़ में और गुफा के दरवाजे पर बहुत से लोग बैठ के कोई होम कर रहा है आदान दे रहा है कोई ध्यान कर रहा है कोई हाथ जोड़ रहा है तो मैंने पूछे क्या हो रहा है भाई तो बोले महाराज ये जो गुफा है ना इसके भीतर एक बड़ा भारी प्रेत रहता है और इसमें कोई घुसे उसको खा जाता है तो ये होम कर रहे हैं कि वो भाग जाए ये जप कर रहे हैं कि वो भाग जाए ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भाग जाए ये ध्यान कर रहे हैं कि भाग जाए ये पाठ कर रहे हैं कि भाग जाए सब लोग उसको बजाने के लिए कोशिश कर रहे हैं महात्मा ने कहा भाई ऐसे तो प्रेम नहीं बनेगा जब तो तक कैसे बनेगा तो बोले कि वो लकड़ी इकट्ठी करो सूखी लकड़ी बड़े बड़े मसाल बना मसाल जला और मैं आगे आगे चलता हूँ तुम लोग आओ अब महाराज बड़ी बड़ी मसाले बनाई गई गुफा तो उसमें कहीं अजगर था कहीं भेड़िया था कहीं दर्द थे कहीं बाघ थे बोले मैं चलो मारते कुछ नहीं मारो आप डालो और महाराज घुस के सारी गुफा देख ली बोले प्रेम कहा है प्रेम भाग गया प्रेम हो और रोशनी में प्रेम नहीं रहता है ये तो अंधकार में प्रेत रहता है अंधकार में प्रेम का निवास अंधकार में है और प्रकाश में नहीं है असल में प्रेम था ही नहीं वहाँ तो प्रेत था ही नहीं अंधकार था और अंधकार की निवृत्ति केवल प्रकाश से होती है प्रज्वाल्या ज्ञान गानम इस अज्ञान के जंगल को जला दो हाथ लगाकर और ये किस आग से जलेगा निश्चय बना अरे गहरे के रिश्ते मत करो